कहलं के सकवन तय की सा केही के बल घा लसिबन की सा की धव श्रमण सुनहि नहि मोहे देखौ अति अ शङ्कष्ठते ही

लंकापति रावण ने कहा रे वानर तू कौन है किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना रे सठ मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा रे मूर्ख बता क्या तुम्हें प्राण जाने का भय नहीं है हनुमान जी ने कहा हे रावण सुन जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है जाके बल रंचे हरि ईशा पालत सृजत हरत दस शीसा दाबल शेष थरत नर अन्धकुशसमितगिरिकायन धाम धरये जो विविध देह सूरत्रात तुम ससन सिखावनुदाता हर को दण्ड कठिन जेहि भञ्जाय तेहि श्रमित गंजा खर दूषण त्रिशराय रुबाले बधे सकल अतुलित बल बलशाली जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया जिन्होंने खर दूषण त्रिशरा और बाली को मार डाला जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे जाके बल लवले सते जित चरा चर झार तासुदूत मैं जा करे हरियाण वो प्रिय नारी जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो मैं उन्हीं का दूत हूँ जानू मैं तुमरे प्रभुताए सहस बहुसन परे लड़ाए समर बालिसन करिजसु पन् कपि बचन खायम फल प्रभु नागी भूख कपि भवते तोरे